अनोशो टॉक गीता दर्शन अध्याय one and two number six नाम है लिंग शरीर की शांति के लिए पुत्र पत्नी कुछ कर सकते हैं क्योंकि गीता में पिंडदान का उल्लेख आता है वासना प्रत्येक व्यक्ति की अपनी है दूसरा उसमें कुछ भी नहीं कर सकता वासना मेरी है मेरी पत्नी कुछ नहीं कर सकती हां लेकिन मेरी वासना के लिए करने के बहाने से अपनी वासना के लिए कुछ कर सकती है पर वो बहुत दूसरी बात है पति मर गया है पत्नी अपने पति को वासना मुक्त करने की कोशिश करती है प्रार्थना करती है हवन करती है पिंडदान करती कुछ भी करती कोई आयोजन करती है इससे उसके पति की वासना में कोई अंतर नहीं पड़ सकता लेकिन उसकी स्वयं की वासना में अंतर पड़ सकता है और योजना का सीक्रेट यही है योजना पति की वासना मुक्ति के लिए नहीं है क्योंकि पति की वासना मुक्ति अगर आप करवा दें तब तो पति को वासना भी पकड़ा सकते हैं आप तब तो इस दुनिया में मुक्ति मुश्किल हो जाएगी महावीर मर जाए और महावीर की पत्नी वासना पकड़ाए तो महावीर क्या करेंगे क्योंकि जिसे हम मुक्त कर सकते हैं उसे हम बांध भी सकते हैं तब तो मुक्ति भी बंधन बन जाएगी तब तो मुक्ति भी असंभव है नहीं लेकिन राज दूसरा है सीक्रेट दूसरा है वो सीक्रेट का खोला नहीं गया है राज ये है कि पति मर गया है पति के लिए तो पत्नी कुछ भी नहीं कर सकती जिंदा में ही कुछ नहीं कर सकती मर के करना तो बहुत मुश्किल है दूसरे का अपना होना है जिसमें हमारा कोई प्रवेश नहीं है ना पति का ना पत्नी का ना मां का ना पिता का लेकिन पति के बहाने वो जो करेगी अगर वो पति को वासना मुक्त करने की आकांक्षा से प्रार्थना करे तो ये प्रार्थना ये आकांक्षा ये वासना मुक्ति की कामना उसकी अपनी वासना को द्रोहित करेगी ये बड़े मजे की बात है कि दूसरे की वासना जगाने में हम अपनी ही वासना जगाते हैं और दूसरे की वासना मिटाने में हम अपनी ही वासना मिटाते हैं असल में दूसरे के साथ जो हम करते हैं गहरे में अपने ही साथ करते हैं सच तो यह है कि दूसरे के साथ सिर्फ किया जाने का दिखावा हो सकता है सब करना अंततः अपने ही साथ है उपयोगी है लेकिन कृपा करके ऐसा मत सोचें कि वो जो दूसरा यात्रा पर निकल गया उसके लिए उपयोगी है आपके लिए उपयोगी है आपके लिए सार्थक है लेकिन शायद ऐसा अगर कहा गया होता जैसा मैं कह रहा हूं तो शायद पत्नी प्रार्थना भी ना करे सोचेगी ठीक है लेकिन मरे हुए पति के लिए इतना करने की आकांक्षा उसके मन में होती है कि शायद उनको सुगम मार्ग मिल जाए आनंद की राह मिल जाए स्वर्ग का द्वार मिल जाए होने का बुनियादी कारण क्योंकि जिंदा रह के तो हम एक दूसरे के लिए सिर्फ नरक के द्वार तक पहुंचाते हैं एक दूसरे को दुख में धक्के देते हैं इसलिए मरने के बाद पछतावा रिपेंटेंस शुरू होता है मरने के बाद पति पत्नी को जितना प्रेम करता हुआ दिखाई पड़ने लगता है ऐसा जिंदगी में कभी नहीं किया था रिपेंटेंस शुरू होता है जीते के साथ जो किया था उससे बिल्कुल उल्टा पल्ला शुरू होता है बाप के साथ बेटा जिंदा में जो कर रहा था वो मरने के बाद कुछ और करने लगता है जिंदा में कभी आदर ना दिया मरने के बाद तस्वीर फोटो लगाता है फूल चढ़ाता है जिंदा में कभी पैर ना दबाए मरने के बाद राख को समेट के गंगा ले जाता जिंदा बाप ने कहा होता कि गंगा ले चलो तो भूल के न ले गया होता मरे बाप को गंगा ले जाता है ये बहुत गहरे में हमारा जो जगत है इसमें हम जिंदा लोगों के साथ इतना दुर्व्यवहार कर रहे हैं कि सिर्फ मरों के साथ क्षमा याचना कर सकते हैं और कुछ नहीं तो इसलिए पति के लिए पत्नी कर सकती है पति पत्नी के लिए कर सकता है बेटा बाप के लिए कर सकता है बेटा मां के लिए कर सकता है अपने लिए शायद नहीं भी करेगा इसलिए एक बहुत मनोवैज्ञानिक सत्य को एक बहुत गलत कारण देकर पकड़ाने की कोशिश की गई है वो सत्य केवल इतना है कि हम अपनी वासना को दूसरे की वासना शांति के लिए किए गए प्रयास से अपनी वासना को शांत करने में सक्षम होते पर ये छोटी बात नहीं है मगर ये जानकर ही की जानी चाहिए अब और अब ये जानकर ही होगी क्योंकि युग बदलता है प्रौढ़ता बदलती है मस्तिष्क की बच्चों को हम कह देते हैं कि घर में मिठाई रखी तो कह देते हैं कि भूत है कमरे में मत जाना कोई भूत नहीं होता मिठाई होती लेकिन मिठाई बच्चा ज्यादा ना खा ले और बच्चे को अभी समझाने का कोई उपाय नहीं होता कि मिठाई ज्यादा खा लोगे तो नुकसान हो जाएगा तो भूत खड़ा करना पड़ता है काम हो जाता है भूत की वजह से बच्चा नहीं जाता लेकिन बच्चा फिर जवान हो जाता है अब इसको कहिए भूत है तो वो कहता है कि रहने दो कोई फिक्र नहीं बल्कि भूत की वजह से और आकर्षण पैदा होता है जो और चला जाता है शायद ना भी जाता अब तो उचित है कि इसे पूरी बात ही समझा दी जाए आत्मीयत ने जो जो धारणाएं मनुष्यता के बचपन में निर्मित की थी वो सभी की सभी अब अस्त व्यस्त हो गई अब उचित है कि सीधी और साफ बात कह दी जाए आज से पांच हजार साल पहले जब गीता कही गई होगी या और भी पहले तो जो धारणाएं बहुत मनुष्य के विकास की प्राथमिक अवस्थाओं में कही गई थी वो अब सब हंसने योग हो गई अगर उन्हें बचाना हो तो उनके राज खोल देने जरूरी है उन्हें सीधा साफ कह देना जरूरी है कि वो इसलिए भूत नहीं है मिठाई है और और मिठाई खाने के नुकसान क्या है वो साफ कह देने उचित मनुष्य प्रौढ़ हुआ है और इसलिए मनुष्य सारी दुनिया में अधार्मिक दिखाई पड़ रहा है ये मनुष्य की प्रौढ़ता है अधार्मिकता नहीं है असल में प्रौढ़ अडल्ट आदमी के लिए अडल्ट ह्यूमैनिटी के लिए प्रौढ़ हो गई मनुष्यता के लिए बचपन में दिए गए मनुष्यता को जो सिद्धांत थे अब उनकी आत्मा को फिर से नए शरीर देने की जरूरत है